वैज्ञानिक लोग जिसमें भार है मोटापन है तरलता है रंग है रूप है आदि वो वहां तक सीमित पदार्थ की परिभाषा करते वो परिभाषा पूरी नहीं उतरती वेद दर्शन उपनिषदों ने जो पदार्थ की परिभाषा की है द्रव्य की परिभाषा की है वस्तु की परिभाषा की है वो ये की गई है जिसके सारे से गुण रहते हैं वो पदार्थ है और उसमें वर्गीकरण ये किया गया जड़ पदार्थ है और चेतन पदार्थ दोनों अलग अलग हैं जल के सारे से शीतलता रहती है जल के सारे से तरलता रहती है जल के सारे भार रहता है जल के सारे रूप रहता है तो जल एक पदार्थ है उसी प्रकार पृथ्वी एक पदार्थ है उसी प्रकार अग्नि एक पदार्थ है उसी प्रकार वायु एक पदार्थ है और इसी प्रकार जीवात्मा भी एक पदार्थ है और परमात्मा में आनंद गुण रहता है बल रहता है ज्ञान रहता है इसलिए ईश्वर भी एक पदार्थ है समादनीय विद्युतगण उपस्थित सज्जनों माताओं अब हम त्र्यंबकम यजामहे मंत्र को ध्वन के रूप में बोलेंगे त्र्यंबकम यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना るは कृपा से हम इस योग शिक्षण शिविर को आज संपन्न करने जा रहे हैं हमने इस शिक्षण शिविर के काल में विशुद्ध वैदिक रीति पद्धति को अपना आधार बना के रखा वेद दर्शन उपनिषद है और लाखों जो ऋषि हुए उन्होंने जिस पद्धति को स्वीकार किया आज माना उसी को हमने यहां पर बताने का प्रयास किया और योग की परिभाषा आपको समझाई योग चित्त वृत्ति निरोध ये ऐसी परिभाषा है विशुद्ध योग को बताती है प्राय आजकल अधिकतर विशुद्ध योग को नहीं बताया जाता ध्यान देने की बात है यद्यपि आसनों का प्रशिक्षण आवश्यक है शरीर को स्वस्थ और बलवान बनाने के लिए बिल्कुल ठीक है पर आसनों का नाम योग नहीं है हाँ जिस आसन से हम स्थिर होके सुखपूर्वक ध्यान लगाते हैं बिना हिले जुले उस आसन का नाम योग का अंग है आप समझ गए पूरे समस्त आसन व्यायाम है शरीर को स्वस्थ बलवान बनाने का साधन है पर जिस आसन से बैठ के हम समाधि लगाते हैं ईश्वर का साक्षात्कार करते हैं वो आसन योग का अंग कहलाता है ये आपको बतलाया और ये आपको ये भी बताने का प्रयास किया कि योग केवल किन क्रियाओं से नहीं होता विशुद्ध योग का यदि हम स्वरूप देखना चाहें तो उसमें शुद्ध ज्ञान चाहिए शुद्ध कर्म चाहिए शुद्ध उपासना चाहिए यद्यपि सब पर प्रकाश मत डालता रहा हूं और थोड़ा सा ध्यान देना कर्म के क्षेत्र में विस्तार से नहीं बताया गया जितना कि ज्ञान के क्षेत्र में बताया गया और क्रिया रूपों में भी बताया गया ध्यान दो ज्ञान एक उपासना दो पर याद रखना जब तक व्यक्ति निष्काम कर्म नहीं करता तब तक वह योगी नहीं बनता परिभाषा एक व्यक्ति दस लाख रुपया किसी अच्छे काम में देता है विद्यालय में देता है वेद प्रचार में देता है साहित्य प्रकाशन में देता आदि अब ध्यान देंगे आप वो दस लाख रुपया सकाम कर्म भी हो सकता है और निष्काम कर्म भी हो सकता है ये जानने की बात परिभाषा को याद रखिए जो शुभ कर्म किए जाते हैं लौकिक फल के लिए उनको सकाम कर्म बोला जाता है दौड़ा लो याद हो जाएगा जो शुभ कर्म जी लौकिक फल के लिए किए जाते हैं उन कर्मों का नाम सकाम कर्म है उसको यश मिलेगा कीर्ति मिलेगी धन मिलेगा उसका नाम होगा इतिहास लिखा जाएगा कुछ समझ में आई बात ये सकाम कर्म कहलाएंगे अब उसको परिवर्तन करें उसने दस लाख रुपया जो दिया है उसको यश नहीं चाहिए कीर्ति नहीं चाहिए धन भी नहीं चाहिए सम्मान भी नहीं चाहिए अगला जन्म भी नहीं चाहिए उसको केवल ईश्वर चाहिए इसलिए दस लाख रुपए दिए हैं ये क्या बन गया निष्काम कर्म बन गया कहना सरल है और करना कठिन है परंतु असंभव नहीं है तीन बातें याद कर लो कहना सरल है और करना कठिन है किंतु असंभव बिल्कुल नहीं है समझने की चीज है ये केवल ध्यान देना मोटे तीन विभाग बना लो एक तो बुरे कर्म एक अच्छे कर्म एक सकाम कर्म और निष्काम कर्म कर्म के विभाग बनाओ हम जो कर्म करते हैं वो दस प्रकार का होता है और दस अच्छा दस बुरा कितना हो गया बीस प्रकार का होता है हमारे उपकरण तीन है कर्म के एक मन दूसरा वाणी तीसरा शरीर तीन मानसिक कर्म है चार वाणी के कर्म है तीन शारीरिक है कितने हो गए फिर से सुनो तीन मानसिक कर्म है चार वाणी के कर्म है तीन शारीरिक कितने हो गए तो इनमें दस अच्छे उन्हीं से तीन उपकरणों से और दस बुरे ये बीस कर्म जो अच्छे कर्म है और लौकिक फल हमारा उद्देश्य है वो सकाम कर्म है समझ में आ गया जो अच्छे कर्म है विद्या पढ़ाने का दान देने का शारीरिक सेवा करने का कुछ भी कल्पना कीजिए जितने अच्छे कर्म हैं और वो केवल ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाते हैं वो निष्काम कर्म है आप एकदम तो इसको नहीं पकड़ सकेंगे पर ये याद रखना रोज एक घंटा निष्काम कर्म के लिए औषधि दिया करें आप क्या समझ में आया आप छह घंटे काम करते हैं आठ घंटे करते हैं आठ में से अपना सात घंटे तो उसका काम गर्म कर लिया करो है? और एक घंटा आप फिर आगे दो घंटे पर पहुंचेंगे फिर तीन पर पहुंचेंगे फिर चौबीस घंटे में निष्काम करोगे तो योगी बन जाओगे आप पर बिना निष्काम कर्म के कोई व्यक्ति योगी नहीं बनता समझ में आ गई बात है जी ये अभ्यास की चीजें हैं और ये होता क्यों है ये आपको बता देता हूं ये व्यक्ति सकाम कर्म को क्यों छोड़ता है और निष्काम कर्म को क्यों बनाता है कारण जिस व्यक्ति ने लौकिक सुखों को क्षणिक देखा और उन्हें दुख मिश्रित देखा उसने लौकिक फल को छोड़ दिया बताओ क्यों छोड़ा कैसे सुनोगे जिस व्यक्ति ने लौकिक सुखों को क्षणिक देखा क्षण भर में चले जाते और उसमें दुख मिश्रित देखा उसको शांति नहीं मिली उसने सकाम कर्म को छोड़ दिया जिस व्यक्ति ने परमात्मा के आनंद को नित्य देखा दुख रहित सुख देखा उसने सकाम कर्म को छोड़ के और निष्काम कर्म को अपनाया ये भावना आगे बढ़ानी चाहिए अपना समाज अपना राष्ट्र अपना अड़ोस पड़ोस जो भी कुछ है हम अपने काम को करेंगे रोज एक घंटा बिल्कुल किसी भावना को लौकिक फल को न रख के केवल ईश्वर प्राप्ति के लिए हमने एक घंटा सेवा करनी है कोई व्यक्ति विद्या पढ़ा के करता है कोई धन दे के करता है कोई शरीर से ही करता है विविध प्रकार के उनमें से ऐसे क्या होता है कि फिर दो घंटे पर पहुंचेंगे आप फिर तीन घंटे पर पहुंचेंगे आप धीरे धीरे आपका क्षेत्र बढ़ता जाएगा तो निष्काम कर्म की कोटि ऊंची कोटि आने पर व्यक्ति योगी बनता है ध्यान दो ज्ञान एक कर्म दो उपासना तीन तीनों अनिवार्य होंगे आज समन्वय नहीं है दुनिया में भौतिक वैज्ञानिक विज्ञान के लिए तो एडी से चोटी तक का जोर लगाया किसकी ज्ञान के लिए भौतिक विज्ञान के लिए वहां ज्ञान में भूल हुई है क्या भूल हुई है सुन लीजिए भौतिक वैज्ञानिकों ने ज्ञान के क्षेत्र में आत्मा परमात्मा को बाहर निकाल के रख दिया ये भूल हुई है वहां पर कुछ समझ मारिए बात कम से कम सुन लो अच्छी तरह समझ लो भौतिक वैज्ञानिक महान है हम उनके ऋणी है इसमें बात विवाद नहीं है भौतिक विज्ञान को हम भी अच्छा मानते पर हम इसको खराब मानते हैं ईश्वर को आत्मा को बाहर निकाल के रख देना केवल प्राकृतिक तत्वों के लिए झूझते रहना पागलपन है बेतुकी बात है निराधार बात विश्व को शांति मिलने की कोई संभावना नहीं है मरेंगे कटेंगे इससे आगे कुछ नहीं होगा ये भूल हो गई वहां ज्ञान के क्षेत्र में भूल हुई है दूसरे बात और सुननी है किन्हीं लोगों ने यह समझा भाई ईश्वर ही सब कुछ है न कोई आत्मा है और न कोई प्रकृति कुछ है ही नहीं वहां भी ज्ञान के क्षेत्र में भूल हो गई नहीं आई बात समझ में दोहराऊं फिर वह भी भूल हो गई ईश्वर ही सब कुछ है न कोई आत्मा है न कोई प्रकृति है वह भी ज्ञान के क्षेत्र में भूल हो गई तीसरे व्यक्ति ने कहा नहीं आत्मा भी कुछ है प्रकृति भी कुछ है परमात्मा कुछ नहीं है यह ज्ञान के क्षेत्र में भूल हो गई आ रही है बात समझ में नहीं आ रही बिना समझाए चलना मुझे अच्छा बिल्कुल नहीं लगता ये दिमाग नहीं पकड़ता तो बैठ गए उससे क्या लाभ है ये विज्ञान की बातें मूल यहां कीली है सब यहां से कीली बदल गई तो बिल्कुल कहीं और ही चले जाएंगे जब हम मोरिशस जा रहे थे पानी के जहाज में मैंने कहा कि कैसे पता चलता है जैसे मोरिश चले जाएंगे सीधे उनका बड़ी रेखाएं होती हैं ऐसे बिंदु होते हैं यदि हम एक सूत भर बाय हो जाए तो 200 किलोमीटर दूर चले जाएंगे ऐसी रेखाएं बनी हुई है एक बिंदु बदल गया एक सिद्धांत बदल गया तो दस सिद्धांत गलत हो जाएंगे ये नियम है एक जड़वाद है जड़वादी क्या कहता है जड़ ही पदार्थ है ना कोई आत्मा है ना कोई परमात्मा एक व्यक्ति तो नहीं नहीं जड़वर कुछ नहीं प्रकृति कुछ नहीं है परमात्मा के सिवाय दूसरी चीज ही नहीं है दुनिया में वो भी एक मान्यता आई एक कहने का नहीं जीवात्मा भी कोई चीज है और प्रकृति भी है ईश्वर नाम की कोई चीज ध्यान देना ये विशुद्ध बात बिल्कुल एकाट्य बात मिलेगी ईश्वर एक पदार्थ है जीवात्मा दूसरा वर्गीकरण में वर्ग है तीसरा प्रकृति भौतिक विज्ञान है तीन पदार्थ बिल्कुल विशुद्ध हैं इन तीनों का ज्ञान न हो तो कोई व्यक्ति योगी नहीं बन पाता जहां तीन में भूल हो गई वहीं योगी नहीं बन पाएगा तो ज्ञान एक और कर्म आपने सुना कर्म दो और ये उपासना समाधि आसन कैसे लगाएं प्राणायाम कैसे करें समाधि लगती कैसे है तो दुनिया में तो इसको छोड़ दिया अथवा है तो कहीं आडम्बर के रूप में आज मैं इस विज्ञान को इस रूप में बिल्कुल अच्छी तरह बता सकता हूं कि समाधि कैसे लगती है पर वैज्ञानिक इसको सुनने के लिए तैयार नहीं है कठिनाई ये है हमारे सामने विशुद्ध रूप में समाधि कैसे लगती है और ये आश्चर्य की बात यह है भौतिक वैज्ञानिक तो ये मानने के लिए शायद बाधित नहीं हो पाएगा कि अरे मुझे तो ऐसा ईश्वर जचता ही नहीं जैसा आप बताते हो ऐसा क्या बैठेगा वो उनकी परिभाषा इतनी विचित्र है कि ईश्वर को समझना उनके लिए मुश्किल हो गया उनके सामने कठिनाई मां ने सिखाया नहीं ईश्वर के विषय में पिताजी ने सिखाया नहीं गुरुजी ने सिखाया नहीं वहां कोई जगह नहीं है भगवान को सिखाने की तो वैज्ञानिक बेचारे क्या करते वो भटके भटका ही रह गए क्या समझे आप वैज्ञानिकों के सामने कठिनाई कठिनाई है उनकी अपनी भूल भी है भूल अपनी है कठिनाई दूसरी है वेद को उन्होंने पढ़ा नहीं दर्शन शास्त्र को उन्होंने पढ़ा नहीं आत्मा परमात्मा को बताने वाले शास्त्रों को उन्होंने पढ़ा नहीं माता पिता गुरुओं ने सिखाया नहीं ध्यान देना अब वैज्ञानिक बेचारे कोरे के कोरे रह गए क्षेत्र में उन्होंने विज्ञान के लिए खोज की वैज्ञानिक बन गए पर आत्मा परमात्मा के विषय में नहीं पढ़ा इसलिए आज वो चुप है या व्यक्तिगत मानते व्यक्तिगत अपनी स्वतंत्रता से कहते मैं ईश्वर को मानता हूं दूसरा वैज्ञानिक कहता मैं नहीं मानता पर परमात्मा के लिए वैज्ञानिकों के दायरे में कोई जगह नहीं है क्या समझे आप नहीं आई बात समझ फिर समझाऊंगा मैं चंद्रमा कितनी दूरी पे है बृहस्पति कितनी दूरी पे है एक करोड़ एक अरब रुपया खर्च करेंगे बृहस्पति को जाके देखेंगे ये उनके लिए जगह है बृहस्पति को जानने के लिए आई बात सुनिए परमात्मा को खोजेंगे परमात्मा को पाएंगे परमात्मा की गवेषणा करेंगे वहां एक रुपया खर्च करने के लिए वैज्ञानिक तैयार नहीं है अब तो आ गई बात समझ में ईश्वर के लिए कोई वैज्ञानिकों के दायरे में कोई जगह नहीं है ये आपत्तिजनक है पूरे विश्व का विनाश का कारण है विश्व का विनाश होगा यदि इसको नहीं रोका गया तो इसको कोई नहीं रोक सकता अब भी विनाश ही एक प्रकार और आगे बढ़ेगा ये ध्यान दो आज यदि हम इस वैदिक परंपरा विशुद्ध दर्शनों की परंपरा उपनिषदों के विज्ञान को हम सुरक्षित रखें कुछ इसके लिए जीवन झोंक दें तो इसकी रक्षा हो सकती है अन्यथा ये विज्ञान भी हाथों से निकल जाएगा विज्ञान की दो बातें एक तो पुस्तकों में लिखा हुआ है आपको मैंने क्या दिखाया था छोटा सा योग दर्शन इतना था ना वो इतनी पुस्तक है पूरी पूरा विज्ञान है उसके अंदर ईश्वरी जीव क्या है और भौतिक जगत क्या है और समाधि में कैसे जाता है व्यक्ति और मोक्ष में कैसे चला जाता है इस इतनी पुस्तक में पूरा का पूरा संविधान है एक तो वो है वहां पुस्तकों में दर्शनों में उपनिषदों में पर याद रखना क्रिया के रूप में देने उसको उतारने वाले व्यक्तियों का इतना अभाव है लाख में एक व्यक्ति नहीं मिलेगा मैंने इतनी गवेषणा की है कहां काम पढ़ने और पढ़ाने का और कितने लोगों से मिलने का जितना मैं कर सकता था समय का ध्यान आप देना मुझे बता देना है तो वो बिल्कुल निष्पक्ष खोज की है मैंने ओट में कितने योगी हो सकते हैं मैं उनको इस विषय में कुछ नहीं कहूंगा ओट में मुझे नहीं मिले है कई अच्छे योगी अर्थात मेरा तात्पर्य ईश्वर साक्षात्कार करने वाले से है साधारण योगियों से नहीं साधारण योगाभ्यास करने वाले तो बहुत जगह मिल जाएंगे मेरा तात्पर्य उन योगियों से है जिसने ईश्वर का साक्षात्कार किया हो प्रत्यक्ष जाना हो उन योगियों से है ध्यान देना इतने लंबे काल में 48-50 वर्ष हो गए मुझे साक्षात जिसका मैं परीक्षण कर पाया हूं और ये निर्णय कर सकूं कि ये योगी है एक भी व्यक्ति नहीं मिला है इतना अभाव है ईश्वर का प्रत्यक्ष करने वाला उस विधि को जानने वाला और औरों को सिखाने वाला एक व्यक्ति मिलना मुश्किल हो रहा है अब ये विद्या सबसे महान महती बड़ी है समन्वय याद रखिए भौतिक विज्ञान इस ब्रह्म विज्ञान का साधन है क्या समझ में आया भौतिक विज्ञान जितना है वो साधन है ब्रह्म विद्या का साधन है आपस में इनका संबंध है दोनों का भौतिक विज्ञान के बिना ब्रह्म विद्या नहीं सीखी जा सकती और ब्रह्म विज्ञान के बिना भौतिक विज्ञान का उपयोग ठीक नहीं हो सकता विनाश के लिए होगा तो ध्यान दो ज्ञान कर्म उपासना ये उपासना की मैंने आपको कड़िया सुनाई थी कि समाधि जब लगती है तो शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है और हमारे मन के बच्चे दूर दूर हो जाओ दोनों हम सिखाना जानते बच्चों को दूर हो इसको बैठा दे बैठ जाओ नहीं तो डंडा दिखता है ना ये जो बच्चे नहीं मानते तो डंडा दिखाते हैं बच्चों को भी शिक्षा देना सीख लो हम बहुत सिखा चुके हैं और भी सिखा सकते हैं आपको बच्चे बिगाड़ने आते हैं बुरा नहीं मानना एक आध को छोड़ो बिगाड़ते यदि को सुधारते कम हो तो वो मैं आपको क्या सुना रहा था समाधि अवस्था में क्या होता है क्या अनुभूतियां होती हैं ये मैं प्राय सुनाता रहता हूं अच्छा कुछ लोग कहते हैं भाई समाधि में जो आपको मिलता है वो सुनाया मत करो कहते हैं ना ऐसा भी एक विचार है जो समाधि सिद्धियां मिलती हैं वो सुनाओ मत मैंने सोचा मुझे जो उपलब्ध हुई अवस्थाएं मैं ना सुनाऊं और कल मैं मर गया तो हो गया बेकार इसलिए अपनी विद्या को बिल्कुल अपने तक सीमित नहीं रखना चाहिए लेखबद्ध करो दूसरों को सिखाओ नहीं तो वो लुप्त हो जाएगी और बड़ा मुश्किल है लुप्त हुई विद्या का ढूंढना अति कठिन है मैं आश्चर्य ये करता हूं मैंने युवकों को M A B A PhD पता नहीं कितने को पढ़ा पढ़ा के विद्वान बनाया अब भी विद्यालय चलते हैं और उनको सिखाते हैं बहुत ऊंची ऊंची अच्छी योग्यताएं जैसे विवेक भूषण जी आए थे उनको एक है उनमें से वो भी इस विद्या को प्राप्त करने में कठिनाई का अनुभव कर रहे क्या समझ में आया ऊंची समाधि वाली को बहुत बुद्धिजीवी विकसित बुद्धि बहुत अच्छे पढ़ाने वाले अच्छे प्रवक्ता लेखक है विद्यालय संचालन करने वाले पर ब्रह्म विद्या की जो साक्षात्कार की जो अवस्था है उसको देख के वो भी घबराते हैं डरने की बात नहीं सोचने का विषय है ये ध्यान देना ये विद्या उस समय आती है व्यक्ति को जहां मैं और मेरा समाप्त हो जाता अब देख लीजिए आप सभी वस्तुओं से स्वस्वामी संबंध टूट जाता है और सभी वस्तुओं का स्वामी ईश्वर को स्वीकार कर लिया जाता है ये विद्या उस समय आती है जब तक ये बात उठती रहेगी मैं भी तो कुछ हूं मेरे अंदर भी तो कुछ गुण है छोटा मोटा मुझे भी तो थोड़ा सा सम्मान तो मिलना ही चाहिए यदि ये चीजें आती रहेंगी तो इस अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता वो कवि का भजन है ना अपने प्रकाश का मैं था तो तू नहीं था और तू आया तो मैं नहीं रहा <laughs> वो कवि का है ना वो अपने प्रकाश जी का है भाव सुना रहे उसके कि जी मैं था तो तू नहीं था और तू आ गया तो मैं नहीं रहा इसको कौन करेगा अपने को कौन मिटाएगा शरीर की दृष्टि से इसलिए नचिकेता के सामने कहा तलवार की धार है छुरे की धार है छुरे की धार है जहां जाकर के व्यक्ति सम्मान से विष के तुल्य डरता है और अपमान की इच्छा अमृत के तुल्य करता है अवस्था वो है क्या समझे आप नहीं आई समझ फिर सुनाता हूं इस अवस्था को प्राप्त करने वाला व्यक्ति सम्मान को विष के तुल्य समझता है और अपमान को अमृत के तुल्य समझता है ऐसा कौन है कोई धीरे धीरे एक नाग नागपुर में एक दो दो तो चार दिखा दो कम से कम बड़ी मुश्किल हो जाएगी पर असंभव कुछ नहीं है हम कर सकते हैं आप कर सकते हैं विधि है इसकी नियम है इसके क्या सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उनका आदि मूल बस ये नियम लागू हो जाए तो बस सारी बीमारी कटती चली जाएगी सारी सत्य विद्याओं का आदि मूल परमेश्वर है सारे पदार्थों को बनाने वाला जो प्रकृति से बनते हैं उनका भी बनाने वाला फिर मेरा क्या रहा बताइए है यहां से जड़ें उखड़ जाती है तो ध्यान दो ये इतनी महत्वपूर्ण विद्या है अपने देश में अब भी बची हुई है ये विदेश में नहीं मिलेगी जहां तक मेरी बुद्धि काम करती है ये सच्ची योग विद्या ईश्वर साक्षात्कार की विद्या विदेश में नहीं दिखती और देश में भी इसको जानने वाला कोई बिरला ही मिल पाएगा और ये विद्या यदि नहीं जानी गई नहीं सीखी गई तो आगे चल के हो सकता है ये लुप्त जैसी हो जाए पुस्तकों में रह जाएगी अब मैं जो सिखाता हूं ना इतनी गहराई में जा जाके सिखाता हूं मोटी से मोटी बुद्धि वाले भी पकड़ने में सरलता का अनुभव करते मैं खोज करता हूं ध्यान अवस्थित खूब गवेषणा करता हूं कहां पर क्या हुआ उसको पकड़ता हूं और फिर उनको सिखाता हूं यहां ऐसा होगा यहां ऐसा होगा वैज्ञानिकों की तरह चलती है खोज और ध्यान दो मैं आपको सुना रहा था संप्रज्ञात समाधि से ऊपर असंप्रज्ञात समाधि आती है प्रश्न सुनाया था कल आपको असंप्रज्ञात समाधि आती है उस अवस्था में ईश्वर का प्रत्यक्ष होता है कम जिसता होगा शायद ईश्वर का प्रत्यक्ष होता है ये भी वैसा ही जटिल है जैसे द्रव्य वाला था द्रव्य का आपको कठिन दिख रहा था ना पदार्थ का ये ईश्वर का प्रत्यक्ष भी उसी तरह कठिन एक प्रश्न है फिर भी सुनिए किसी पदार्थ का प्रत्यक्ष उसके गुणों के माध्यम से होता है क्या समझे आप याद करो फिर से सुनो जिस पदार्थ में जो जो गुण होते हैं उन्हीं गुणों से उस पदार्थ का प्रत्यक्ष होता है याद कर लो आप क्या समझा जिस पदार्थ में जो जो गुण होते हैं वह पदार्थ उन्हीं गुणों से प्रत्यक्ष होता है ये जो हमारे पास में कपड़ा है नहीं? अच्छा तो इस कपड़े का जो हम प्रत्यक्ष करेंगे तो स्पर्श रूप गंध इन गुणों से प्रत्यक्ष करेंगे इसका प्रत्यक्ष इनसे होगा यदि चेतन पदार्थ हो ईश्वर जैसा उनका रूप से प्रत्यक्ष कभी नहीं होगा स्पर्श से प्रत्यक्ष कभी नहीं होगा गंध से प्रत्यक्ष कभी भी नहीं होगा रस्य प्रत्यक्ष कभी भी नहीं होगा इसका मतलब समझे आप ईश्वर में आनंद गुण है ईश्वर में ज्ञान गुण है ईश्वर में बल गुण है इन्हीं के माध्यम से ईश्वर का प्रत्यक्ष होगा कुछ समझ में आया थोड़ा जड़ पदार्थों के जो गुण है जड़ पदार्थों का प्रत्यक्ष उन्हीं से होगा चेतन पदार्थों के जो गुण है चेतन पदार्थों के जो गुण हैं उन्हीं के माध्यम से थोड़ी सी गहराई में चलूं जाऊं गहराई में समय समाप्ति की ओर है कभी आप उड़ जाना नहीं अंत तो गत्वा पदार्थ के स्वाभाविक गुण और पदार्थ दो स्वतंत्र तत्व नहीं रहेंगे क्या समझ में आ गया नहीं है कुछ समझ में आया नहीं आया अग्नि की गर्मी अग्नि का प्रकाश जितने भी स्वाभाविक गुण अग्नि के हैं अग्नि और अग्नि के गुण दो स्वतंत्र पदार्थ नहीं है वो एक ही पदार्थ है गुण और गुणी की कल्पना समझाने के लिए की जाती है हाँ नैमित्ती के गुण अलग होते हैं एक स्वाभाविक अलग जल को गर्म कर दिया अग्नि से वो गर्म हो गया ये गर्म गुण जल का स्वाभाविक गुण नहीं है नैमित्तिक है मैंने ध्यान लगाया समाधि लगाई आनंद से परिपूर्ण हो गया मुझे में आनंद भर गया ये आनंद गुण मेरा स्वाभाविक नहीं है नैमित्तिक है तो अब हमारा समय समाप्त होता है अब ये बड़ी गंभीर विज्ञान की बातें हैं और आपने जिसने व्रत पत्र नहीं दिए हों अपने पास रखिए और यहां पहुंचा दीजिए और अवश्य ही व्रतों का ग्रहण करें आप कोई व्यक्ति ऐसा न हो जो करने योग्य व्रतों का कर्तव्यों का संकल्प न करे अवश्य ही करना है छोड़ने योग्य जो बुराई त्रुटियां हैं उनका संकल्प भी अवश्य ही करना चाहिए संघर्षमय जीवन है युद्धमय जीवन है जो व्यक्ति महान युद्ध करता है वही जीतता है जो नहीं करता वो मारा जाता है इन दोषों से या तो पिटाई खाते रहो या इनको पीट दो एक दो में से एक होना निश्चित है या तो दोषों को मार दो या अपने आप मर जाओ बताओ क्या करोगे एक जरूर होगा हो नहीं सकता आप दोषों को नहीं मारे रात को दोष नहीं मारे आप यदि दोषों को नहीं मारेंगे अज्ञानता को नहीं मारेंगे कुरीतियों को नहीं मारेंगे तो कुरीतियां अज्ञान आपको निश्चित रूप में मारेंगे एक निर्णय कर लो या तो अज्ञान अधर्म अन्याय को मारो या स्वयं मर जाओ अब देख लो कौन सा अच्छा है बड़ा पुरुषार्थ गंभीर युद्ध आंतरिक युद्ध खूब करना पड़ेगा और हम अज्ञान को इन काम क्रोध को कुरीतियों को उखाड़ के फेंक देंगे शरीर की बात छोड़िए वाणी की छोड़िए मानसिक बुराइयां बहुत सूक्ष्म है पकड़ में नहीं आती आक्रमण करती हैं उनको पकड़ पकड़ के एक एक बाहर निकाल के रख देते हैं तो ये संकल्प लेके चलना आवश्यक है अब जो है आपने यहां बड़ी रुचि ली बड़ी श्रद्धा से आए आप और उपस्थिति भी बहुत अच्छी रही प्रातः काल की भी पर्याप्त अधिक होती थी और आपने रुचि से सुना है और हम ये समझेंगे कि नागपुर में हमने जो समय लगाया समय दिया वह सफल रहा सार्थक रहा ठीक है और दूसरी बार मांग करोगे तो मुझे करके दिखाओ फिर मांग की बात करना पहले करके दिखाओ फिर मेरे पास सूचना भेजो कि हमने इतना कर डाला है फिर मांग करना तो अब अगला कार्यक्रम आप सुनो प्रभूति भुवन में शांति की